कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक चौदह आखिरी भोजन हो गया भाग दो एक मेरे मित्र हैं वो मुझे आके अक्सर कहते हैं राजनीति में वो कहते हैं ध्यान थोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं विरोधियों को पछाड़ दूं चित्त अशांत रहता है इसलिए न तो मैं ठीक से सो पाता हूं न मेरा स्वास्थ्य ठीक रह पाता है इसलिए विरोधियों को मैं पछाड़ नहीं पाता और वो मुझसे पूछते हैं बड़ी हैरानी की बात है कि विरोधी किस तरह चल रहे हैं न उनके सिर में दर्द होता न रात उनकी नींद खोती राजनीतिक का चक्कर आप जानते हैं चौबीस घंटे चक्कर में उसे रक्ति भर विश्राम नहीं है लेकिन इन मित्र को तकलीफ यह है कि ये इतना नहीं झेल पाते ये डमांडोल हालत है इनकी ये ध्यान भी इसलिए चाहते हैं ताकि संसार में ठीक से गति हो सके ये ध्यान को भी संसार की नाव बनाना चाहते ऐसे तो चोर भी ध्यान चाहेगा क्योंकि चोरी करने में अगर आप ध्यानस्थ हो सके तो पकड़े जाने की संभावना कम अगर चोरी करते वक्त आप इतने थिर भाव से कर सकें कि जैसे अपना ही घर है तो आपका हाथ नहीं डगमगाएगा चाबी जल्दी लगेगी ताला आसानी से खोला जा सकेगा हत्यारा अगर ध्यानी हो सके तो जितनी कुशलता से हत्या कर सकेगा उतनी कुशलता से आप न कर सकेंगे आपका हाथ चूकेगा भय लगेगा हृदय धड़केगा रक्तचाप बढ़ेगा आप मुसीबत में पड़ेंगे हत्यारा भी चाहता है कि कोई तरकीब हो शांत होने की चोर भी चाहता है राजनीतिक भी चाहता है धनपति भी चाहता है कि कोई शांत होने की तरकीब हो ताकि संसार में विजय मिल सके ध्यान रखो ध्यान को संसार में नाव बनाने का कोई उपाय नहीं तुम तो हद पागलपन की बात कर रहे हो तुम तो जोशु से पूछना चाहते हो कि ध्यान भी बर्तन बन जाए जिसमें हम वासनाओं का भोजन कर सकते तुम जोशू से पूछना चाहते हो कि ठीक है तुम कह रहे हो तो हम बर्तन साफ कर लेंगे लेकिन हम साफ इसलिए करना चाहते हैं ताकि और ढंग से भोजन कर सके अमेरिका में जहां पहली दफा वैश्यों ने संस्कृति निर्मित की है जहां व्यापारी के हाथ में वणिक के हाथ में सारी सत्ता आ गई है वहां अगर आपको ध्यान का भी प्रचार करना हो तो यही समझाना पड़ता है कि ध्यान से इफिशियंसी बढ़ेगी काम करने की कुशलता बढ़ेगी ध्यान से धन के द्वार खुलेंगे ध्यान अगर तुमने किया तो तुम महत्वाकांक्षा के जगत में आसानी से सफल हो जाओगे संसार में विजय मिलेगी ध्यान तुम्हारे लिए शक्ति है स्वाभाविक है वणिक सभ्यता में ऐसा हो वहां अगर ध्यान को भी चलाना हो तो भी धन के सहारे ही चलाया जा सकता है और धन मिलता हो तो ही कोई दौड़ने को राजी हो सकता है अगर तुम लोगों को कहो कि ये परमात्मा की खदान है इसको तुम खोदो और पास में तुम कहो कि सोने की खदान है तुम्हें परमात्मा की खदान खोदता हुआ कोई भी नहीं मिलेगा लोग सोने की खदान पहले खोदेंगे और लोग कहेंगे कि सोने की खदान पहले खोद लेनी जरूरी परमात्मा प्रतीक्षा करता रहेगा जल्दी क्या है अगर परमात्मा और सोना सामने रखा हो तो तुम भी सोना ही चुनोगे अपने मन को बहुत गहरे में पूछना तुम्हारा चुनाव क्या होगा और अगर तुम सोना ही चुनना चाहो तो तुमने अभी आखिरी भोजन नहीं किया अभी बर्तन तुम साफ कर भी कैसे सकोगे क्योंकि तुम साफ कर भी ना पाओगे नई वासनाएं तुम्हारे बर्तन को फिर गंदा कर जाएंगी तुम मन को शांत करना चाहते हो महत्वाकांक्षी व्यक्ति अगर मन को शांत करेगा कैसे सफल होगा क्योंकि हर महत्वाकांक्षा मन को गंदा कर जाती जब भी तुम भरते हो आकांक्षा से कि कुछ पालू कहीं पहुंच जाऊं कुछ हो जाऊं तभी तुम फिर गंदे हो गए महत्वाकांक्षी चित्त मन को शांत नहीं कर सकता महत्वाकांक्षा तो शून्य चित्त ही मन को शांत कर सकता है ठीक कहा जो सुने तुम भी अपने से पूछना क्या आखिरी भोजन हो चुका तो फिर देर क्यों कर रहे हो जाओ और बर्तन साफ कर लो बर्तन साफ होते ही तुम स्वयं मोक्ष हो वो निर्मलता जो तुम्हारा स्वभाव है प्रकट हो जाएगी वो दिया जो बिन बाती बिन तेल जलता है जिससे कोई धुआं नहीं उठता धूम्रहीन जिसमें किसी ईंधन का उपयोग नहीं होता इसलिए कोई कचरा पैदा नहीं होता जो तुम्हारे भीतर के आकाश को दूषित नहीं करता वो दिया तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा वो जल ही रहा है लेकिन उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं दौड़ने वाले आदमी का ध्यान सदा कहीं और है स्वयं को छोड़कर वो सब देखता है अपने भर को नहीं देखता उसे फुर्सत भी नहीं है अपने को देखने की उसकी आंखें सब तरफ भटकती हैं एक जगह को वो छोड़ देता है खुद को तुम्हारी आंख तुम्हारी खोज पर जब ही निकलेगी जब और कहीं खोजने को कुछ भी ना बचेगा जब तुम कह सकोगे कि ठीक है देख लिया ये सब रास्ते चल लिए कहीं पहुंचे नहीं ये सब स्वाद ले लिए इनसे भूख बढ़ती है घटती नहीं ये सब जल पी लिए इनसे प्यास जलती समाप्त नहीं होती ये सब आकांक्षाएं पूरी करके देख ली कुछ भी पूरा नहीं होता सब अधूरा सा अधूरा रह जाता है जिस दिन तुम्हें ऐसा लग जाए आखिरी भोजन हो गया है आखिरी भोजन के बाद ध्यान बड़ी सरल घटना है शायद कुछ करना भी ना पड़े बर्तन का गंदा होना बंद हो गया पुराने बर्तन को साफ कर लेना कितनी कठिनाई की बात है जरा सी भी कठिनाई नहीं जोसु की कथा को भीतर सोचना और एक बात ख्याल रखना पके बिना तुम वृक्ष से न गिर सकोगे और कच्चे तुम गिरने की कोशिश मत करना कच्चा गिर के कोई भी कहीं पहुंचता नहीं सिर्फ सड़ता है इससे मेरी बात बड़ी कठिन मालूम पड़ती है कि साधारणता तुम किसी और के पास जाओ तो वो कहेगा धन्यवाद कि तुम संसार छोड़ के और प्रार्थना पूजा में उत्सुक हो रहे हो मैं तुमसे नहीं कहूंगा धन्यवाद क्योंकि मैं जानता हूं यह तुम्हारा दुर्भाग्य भी हो सकता है दुर्भाग्य तब होगा जब तुम्हारा मन तो अभी दुकान से भरा नहीं था और तुम मंदिर आ गए ये मंदिर झूठा होगा और दुकान तुम्हें खींचती रहेगी और मंदिर में तुम प्रार्थना करोगे लेकिन सिर तुम्हारा दुकान में झुका रहेगा यहां परमात्मा के चरण तुम पकड़े रहोगे लेकिन तुम्हारे हाथ परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंचेंगे ये सब झूठा झूठा होगा और झूठ से कहीं कोई यात्रा होती है स्वर्ग की या मोक्ष की या आनंद की झूठ से तुम कहीं भी ना जाओगे झूठे मत होना प्रमाणिक होना और मैं कहता हूं कोई चिंता नहीं तुम दुकान पर ही प्रमाणिक हो जाना तुम कह देना कभी कैसा परमात्मा कैसा मोक्ष अभी मैंने संसार भी नहीं जाना ये तुम्हारी ईमानदारी होगी इस आदमी को मैं धार्मिक कहता हूं क्योंकि ये कम से कम सच्चा है और जो सच्चा है वो ज्यादा देर तक नहीं भटक सकता है जो झूठा है उसकी बड़ी कठिनाई है वो खुद को तक धोखा दे लेता है वो खुद से भी झूठ बोल लेता है वो खुद को भी समझा लेता है वो खुद के साथ भी वंचना करता है मैंने सुना है एक पुलिस का आदमी रात एक रास्ते से निकल रहा था और उसने दुकान के भीतर बड़ा सोलगुल सुना जैसे दो आदमी भारी विवाद कर रहे हैं और हालत ऐसी है कि सिर फुटबल हो जाएगी तो उसने दरवाजा खटखटाया दुकान के मालिक ने दरवाजा खोला पुलिस के आदमी ने अंदर झांक कर देखा वहां कोई और दूसरा नहीं तो उसने कहा कि अब भी मैं सुन रहा था कि यहां आवाज दो की थी और विवाद काफी था और गर्मी इतनी थी कि मुझे लगा कि कुछ खतरा होने वाला है दूसरा आदमी कहां है वो दुकानदार हंसा हाँ, उसने कहा कि जाने भी दीजिए वो कोई दूसरा है नहीं मैं अपने से ही बातें कर रहा था उस पुलिस वाले ने कहा धो गई लेकिन आवाज बिल्कुल अलग अलग मालूम पड़ रही थी उस आदमी ने कहा ये बात ठीक है क्योंकि मेरे भीतर कई है पर उसने कहा यह भी ठीक है लेकिन विवाद भी चल रहा था और एक दूसरे का खंडन हो रहा था उसने कहा वो भी ठीक है कि जब भी मैं अपने से बात करता हूं तो विवाद शुरू हो जाता पुलिस वाले ने कहा लेकिन खुद से तुम विवाद कैसे करते हो तो उसने कहा कि मुझे झूठी बातें बिल्कुल नापसंद पसंद और मैं ऐसा झूठा हूं कि खुद से भी झूठी बोलता हूं फिर विवाद शुरू हो जाता है फिर मैं इतना गुस्से में आ जाता हूं कि गर्दन दबा दूंगा अगर झूठ बोले तुम अगर अपने को पकड़ोगे तो कई मौके पाओगे जब तुम खुद से झूठ बोल रहे हो और दूसरे से झूठ बोलना क्षमा किया जा सकता खुद से झूठ बोल के तुम कहां जाओगे जब तुम मंदिर में हाथ जोड़े खड़े हो तब पूछना कि यह हाथ सच में जोड़े या तुम अपने से झूठ बोल रहे हो बेहतर है तुम दुकान पर ही रुकना दुकान का अनुभव पूरा हो जाने दो दुकान इतनी निस्सार है कि तुम कितनी देर रुकोगे लेकिन अगर तुम बीच बीच मंदिर जाते रहे तो खतरा है तुम बहुत ज्यादा रुक जाओगे क्योंकि बीच में मंदिर आने से फिर दुकान में रस जग जाता है मैंने सुना है कि एक आदमी अपने मित्र को कह रहा था कि पिछले तीन महीने परम आनंद के थे तुम्हारी भाभी ने ऐसा सुख दिया कि जैसे फिर हनीमून वापस लौट आए फिर सुहागरात आ गई उस मित्र ने कहा ऐसा तुम्हारे विवाह हुए तो कोई बीस साल हो गए तो कहा कि हां बीस साल बाद फिर से जैसे सुहागरात वापस आई ये तीन महीने ऐसे आनंद के थे रस ही रस बह गया मित्र ने पूछा फिर तुम आज उदास क्यों मालूम पड़ रहे हो उसने कहा कि आज पत्नी मायके से तीन महीने के बाद वापस लौट रही <laughs> जब पत्नी मायके होती है तब सब रस वापस लौट आता है जब तुम मंदिर में जाते हो तब दुकान मायके में सब रस वापस लौट आता है जब तुम प्रार्थना करते हो तब धन मायके में तब सब रस वापस लौट आता है जब तुम ध्यान करते हो तब सारा संसार तुमने मार के भेज दिया फिर सुहागरात वापस आ जाती दूरी होते से रस पैदा हो जाता है हो सकता है तुम बड़े होशियार हो तुम मंदिर इसलिए जाते हो ताकि दुकान का रस बिल्कुल मर न जाए हो सकता है तुम बड़े चालाक हो तुम इसीलिए गीता पढ़ लेते हो कुरान पढ़ लेते हो बाइबल सुन लेते हो संतों के पास बैठाते हो ताकि जिंदगी का संसार का रस कायम रहे संतों की बात सुन के जब फिर तुम धन की आवाज सुनते हो खनक सुनते हो तो खनक में जो माधुरी और सुंदरी मालूम पड़ता है कान फिर से जीवित हो जाते उपवास करके भोजन किया है बस वैसा ही उपवास करके भोजन में रस लौट आता स्वाद पुनरुज्जीवित हो जाता है तुम्हारा धर्म तुम्हारा धोखा है तुम्हारा सत्संग तुम्हारी प्रवंचना है तुम संतों के पास जा कैसे सकते हो जब तक कि आखिरी भोजन ना हो गया हो और जिस दिन आखिरी भोजन हो जाए हो जाए उस दिन तुम जहां हो वहां संत प्रकट होने लगेंगे वहां कोई तुम्हारे द्वार दरवाजे को खटखटाते आने लगेगा इस युवक को जाने की जरूरत न थी जोसू के पास जोसू गया होता आखिरी भोजन भर हो जाए हर वासना को जल्दी आखिरी करो और जितनी त्वरा में भोग सको उतने जल्दी आखिरी हो जाए और बीच बीच में स्वाद मत बदलो पत्नी को मार के मत भेजो नहीं तो छुटकारा कभी भी ना होगा रस फिर फिर लौट आएगा फिर तुम एक वर्तुल में घूमते रहोगे भोगो संसार को डर कुछ भी नहीं क्योंकि संसार इतना आसार है कि भोग के भी तुम भटक तो नहीं सकते भोग के कोई कभी भटका नहीं अधूरा भोगी भटकता है तुम भोगो संसार को धन इतना व्यर्थ है कि तुम कब तक ढोगे उसका वजन साफ हो जाएगा सोने में कुछ सार तो नहीं है लेकिन सोना पास में ना हो तो बहुत सार है पास हो तभी निस्सार है तुम संसार को पाही लो जितना पा, पा सकते हो तुम उसको चख लो भरपूर आकंठ तुम भर जाओ वो इतना व्यर्थ है कि डर का कोई कारण नहीं उसकी व्यर्थता जब उसकी संपूर्णता में प्रकट होगी गुरुजीफ ने कहा है कि जब मैं बच्चा था तो काकेशस में मिलने वाले एक फल से मुझे बड़ा लगाव था वो लगाव इतना ज्यादा था कि उस फल को मैं अक्सर ज्यादा खा लेता पेट में दर्द हो जाता और तकलीफ होती बुखार आ जाता जंगली फल और बच्चे उसको खाना पसंद करते तो गुरुजीएफ ने कहा है कि मेरे दादा ने एक दिन एक टोकरी पर फल लाए और कहा कि तू मेरे सामने बैठ और खा गुरुजीएफ बड़ा प्रसन्न हुआ उसने फल खाना शुरू किया लेकिन दादा डंडा लिए बैठा था जब वो हटने लगा खा के उसने कहा बैच आज ये टोकरी पूरी कर ली गुरुजी ने कहा क्या मेरी जान लेंगे अब मैं अब और नहीं खा सकता मैं जितना खा सकता था वो तो पहले ही खा चुका उसके दादा ने कहा नहीं तो अभी और खा सकता है तू कोशिश कर थोड़ी उसने और कोशिश की पर उसने कहा कि अब तो मुश्किल है वमन हो जाएगा उसके दादा ने कहा वमन हो जाए लेकिन अब रुकना नहीं है एक टोकरी पूरी करनी है गुरुजीएफ ने लिखा है कि मैं तब तक खिलाया मेरे दादा ने वो डंडा लिए बैठा था जब तक कि मैं नारकी अनुभव न करने लगा और चिल्लाने लगा रोने लगा भागने लगा लेकिन वो राजी नहीं था वो कहता था और जब तक कि वमन ना हो गया और मैं बेहोश होकर ना गिर गया लेकिन बस वो आखिरी दिन था गुरुजी ने लिखा उस दिन के बाद वो फल मैंने चखा नहीं उस बात को बीते कोई पचास साल हो गए तब उसने ये घटना दोहराई फिर मैंने वो नहीं उस झाड़ के नीचे से भी निकलता हूं तो उस फल को देख के मेरे रोंगटे कपने लगते भयभीत हो जाता यही मैं तुमसे कहता हूं तुम संसार की टोकरी सामने रख के चख ही लो तुम आखिरी भोजन कर ही लो तुम वहां तक मत रुको जहां तक कि वमन ना हो जाए जब तुम्हारी वासनाओं का वमन हो जाता है ध्यान निन्यानबे प्रतिशत पूरा हुआ फिर काम बड़ा छोटा बचता है वो उतना ही काम है जैसा सांझ गृहणी जब भोजन चुक जाता है तो बर्तन को धो के रख देती और कुछ भगवान दुख से नहीं भागे थे सुख से भागे थे पूजा पूरा भोजन ही नहीं आप ही भोजन करके निकले थे लेकिन भगवान उनको भी ध्यान खोजने में वर्षों के लगे बुद्ध निश्चित ही सुख से भागे इसलिए वर्षों में काम पूरा हो गया जन्म न लगे तुम सोचते हो वर्षों लगे तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगा छह साल कोई वक्त है जहां तुम्हारे हजारों जन्म हुए हो वहां छह साल कोई समय है तुम्हें लगता है कि छह साल ये तुम्हें छह साल ज्यादा क्यों लगते हैं एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तुम कभी नहीं कहते कि सात साल में मैट्रिक होगा सिर्फ मैट्रिक होगा फिर छह साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी सिर्फ ग्रेजुएट होगा फिर तीन साल दो साल लगेंगे तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी आधी जिंदगी सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में लग जाती लेकिन कोई कभी नहीं कहता कि इतना ज्यादा समय बुद्धत्व छह साल में मिलता हो तो भी हमें लगता है ज्यादा समय लग गया क्या कारण असल में यूनिवर्सिटी से हमारी महत्वाकांक्षा जुड़ी है उससे कुछ धन पद प्रतिष्ठा मिलने वाली इसलिए कितना भी समय लगे थोड़ा लगता है और बुद्धत्व में हमको कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं क्या मिल गया किसी इंप्लायमेंट दफ्तर के क्यू में बुद्ध खड़े हो जाते तो ऑफिसर कह देता कि सर्टिफिकेट कहां है कोई बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से कोई नौकरी मिलती कि बुद्ध अगर बेचने जाते अपने बुद्धत्व को तो कितने पैसे मिल सकते थे क्या मिलता कौन खरीदता किसको मतलब लोग मुफ्त भी बुद्धत्व लेने को तैयार नहीं है कोई तुम्हारे घर अचानक जाओ कहे कि बुद्धत्व तुम्हें तो देता हूं तो तुम कहेंगे ठहर गई सोच लेने दे पत्नी से बात कर लेने दे बच्चे भी हैं ये ये उपद्रव इतने जल्दी नहीं और फिर साल क्या है हमें लगता है कि छह साल काफी लंबे लंबे क्यों लगते हैं लंबे लगने का कारण छह साल की लंबाई नहीं है छह साल के बाद जो मिलता है उसमें हमें कुछ सार नहीं दिखाई पड़ता निस्सार बुद्धत्व मिलता है और छह साल भटक के छह साल में तो दुकान जम जाती है छह साल में तो दिल्ली पहुंच जाते छह साल में तो क्या से क्या नहीं हो जाता और कुल बुद्धत्व मिला तो पहली तो बात यह कि हम समय का माप करते हैं आकांक्षा से और फल क्या मिल रहा है उससे हम सोचते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि अगर साठ जन्मों में भी बुद्धत्व मिलता तो भी जल्दी मिला क्योंकि जो मिलता है वो अकूत है छह साल से क्या उसकी गणना है जल्दी मिला छह साल कोई वक्त कोई भी वक्त नहीं पलक झपके निकल गए छह साल लेकिन फिर भी पूछने जैसा है कि जब सुख से बुद्ध जाग गए और उन्हें लगा कि सब जीवन आसार है तब तो बर्तन धोना ही बचा था तो जल्दी हो जाना चाहिए जल्दी ही हो गया है लेकिन बर्तन धोने में थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि कितने कितने जन्मों का भोजन उन बर्तनों से लगा है बुद्ध को ये जो सफाई करनी पड़ी है ये सफाई बहुत पुराने धूल धूसरित व्यक्तित्व की है दर्पण एकदम गंदा हो गया है और धूल इतने दिनों की जमी है कि बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई पुरानी आत्मों का जाल है तुम जाग भी जाओ तो भी आदतें पीछा करती हैं तुम संसार से हट भी जाओ तो भी इतना आसान नहीं क्योंकि संसार बाहर ही तो नहीं था भीतर भी था फिर बुद्ध की तलाश उस व्यक्ति की जो पहुंचने की कला बता दे जो बर्तन को साफ करने की कला बता दे क्योंकि अगर बर्तन साफ करने की कला ना आती हो तो यह भी हो सकता है कि साफ करने में तुम और गंदा कर लो क्योंकि नाजुक है बात मन से नाजुक बर्तन खोजना कठिन है तुम अपनी घड़ी को भी अगर बिगड़ जाए तो खोल के नहीं बैठ जाते हो सुधारने कुछ ना समझ बैठ जाते फिर वो कभी नहीं सुधरती घड़ी बिगड़ जाए तो भी तुम जाते हो जानकार के पास क्योंकि घड़ी भी बड़ा महीन जाल है लेकिन घड़ी में क्या जाल है कुछ भी जाल नहीं अगर मनुष्य के मन को तुम समझो तो इससे बड़ा जटिल कोई यंत्र जगत में अब तक नहीं और संभावना भी नहीं कि हम कभी इससे जटिल यंत्र पैदा कर सकेंगे इस छोटी सी खोपड़ी के भीतर जिसका वजन मुश्किल से कोई डेढ़ किलो है कोई सात करोड़ तंतु है और प्रत्येक तंतु अरबों सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है वैज्ञानिक कहते हैं कि जितने पुस्तकालय हैं पृथ्वी पर एक व्यक्ति स्मरण कर सकता है चुकता तुम न कर पाओ ये दूसरी बात है लेकिन क्षमता है मस्तिष्क बड़ा बारीक और बड़ा जटिल है सारे जगत का ज्ञान उसमें इकट्ठा हो सकता है ज्ञान ही इकट्ठा नहीं होता सारे जगत की धूल भी इकट्ठी हो सकती जिसको तुम ज्ञान कहते हो अक्सर धूल ही होती सफाई समय लेगी लेकिन छह साल कोई बड़ा समय नहीं फिर बुद्ध एक एक द्वार पर गए जहां जहां उन्हें आशा थी कि कोई सफाई करवाने वाला मिल जाए बुद्ध होशियारी का काम किया बुद्ध घड़ी को खोल के नहीं बैठ गए नहीं तो शायद छह साल भी काफी ना होते बुद्ध ने विशेषज्ञ को खोजा कि तो कोई जो खोल चुका हो जान चुका हो जिससे सीधा रास्ता मिल जाए क्योंकि कभी कभी छोटी सी ही भूल चूक होती है सुधारने में और बिगड़ जाता है मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में एक कंप्यूटर लगाया गया बड़ा कीमती कंप्यूटर था कुछ बिगड़ गया सारी फैक्ट्री बंद हो गई दस हजार लोग काम करते थे उनकी जगह कंप्यूटर अकेला काम करता था सारी फैक्ट्री ठप हो गई एक विशेषज्ञ को बुलाया गया उसने जरा सा एक स्क्रू कसा सब काम शुरू हो गया मालिक प्रसन्न हुआ उसने उसकी फीस पूछी तो उसने कहा पांच हजार डॉलर पांच हजार डॉलर एक सेकंड भी नहीं लगा उसे स्क्रू को कसने में तो उस मालिक ने पूछा कि जरा ज्यादा है सिर्फ जरा सा स्क्रू कसने के पांच हजार डॉलर उसने कहा कि नहीं स्क्रू का तो एक डॉलर कसने का लेकिन कैसे कसना उसके चार हजार नौ सौ निन्यानबे डॉलर इसको कसने का तो एक ही डॉलर लेता हूं लेकिन कैसे कसना कहां कसना कौन सा स्क्रू ढीला है उसके लिए मैंने जिंदगी लगा दी उसके दाम ले रहा हूं और इसको कसवा ना हो तो किसी और से अगली दफा कसवा लेना तो बुद्ध तलाश में गए किसी विशेषज्ञ की किसी गुरु की जो चल चुका रास्ते पर जो पहुंच चुका मंजिल पर जिससे व्यर्थ का भटकाव बचेगा यहां वहां के रास्तों पर जाने से बचाव हो जाएगा क्योंकि बड़ी भूल भुलैया है अनेक गुरुओं के पास गए गुरु थे और काफी दूर तक जानते थे लेकिन ऐसा कोई गुरु न मिला जो बुद्धत्व दे सके क्योंकि बुद्धत्व की आकांक्षा बड़ी अनूठी थी यहां फर्क समझ लें बुद्ध तो सुख से ऊब के आए थे जिन गुरुओं के पास गए वो दुख से ऊब के आए थे इसलिए बड़ी मुसीबत हुई जिन गुरुओं के पास गए उन्होंने भी ध्यान साधा था लेकिन उन्होंने ध्यान एकाग्रता का साधा था जिससे और शक्ति मिलती है मंत्र तंत्र साधा था योग साधा था बड़े शक्तिशाली हो गए थे बीमार आदमी को छू दें तो स्वस्थ हो जाए जिंदा आदमी को छू दें तो मुरझा जाए ताकत थी उनके पास शक्ति थी लेकिन बुद्ध कोई बीमारी ठीक करवाने ना आए थे अंधी आंखें नहीं थी उनकी जिनको छूने से आंखें मिल जाएं वो भीतर की आंख चाहते थे सब गुरुओं को उन्होंने थका डाला बड़ी मीठी कथा है कि हर गुरु ने आखिर में उनसे कहा कि अब तू जा क्योंकि जो हम जानते थे वो हमने बता दिया लेकिन उससे तेरी तरक्की नहीं बुद्ध कहते मैं शांति की तलाश में आया हूं शक्ति की तलाश में नहीं मुझे बीमारी ठीक नहीं करनी मुझे चमत्कार नहीं करने हाथ से ताबीज नहीं निकालने ये मुझे करना नहीं मुझे तो वो जानना है जो परम सत्य है जो आत्यंतिक सत्य है वो मुझे जानना है वो है या नहीं मुझे तो मेरी परम सत्ता का उद्घाटन करना है मुझे दूसरों को प्रभावित नहीं करना मैं मान लेता हूं कि तुम आंख से इशारा करते हो पक्षी आकाश से नीचे गिर जाता है जैसे तीर लग गया ऐसी तुम्हारी एकाग्रता है सिर्फ आंख के तीर से आकाश मोड़ता पक्षी नीचे गिर जाता तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकता लेकिन मुझे कोई पक्षी गिराना नहीं इसे करूंगा क्या माना कि तुम पानी पे चल जाते हो लेकिन वो काम तो नाव से हो जाता है उसकी मुझे चिंता नहीं है बहुत गुरुओं के पास बुद्ध गए सभी गुरु ने देखा कि इसकी आकांक्षा ही कुछ और इसकी खोज कुछ और है ये शक्ति नहीं खोज रहा है परम शांति खोज रहा उन्होंने कहा उसका तो हमें भी पता नहीं हम योग जानते हैं मंत्र जानते हैं तंत्र जानते हैं तुम जो भी सीखना चाहो सीख लो लेकिन ये निर्वाण ये मोक्ष इसका हमें भी पता नहीं ये छह साल बुद्ध अनेक अनेक मार्गों पर गए अनेक विधियां की अनेक साधन किए और सभी साधन व्यर्थ पाए और सभी विधियां व्यर्थ पाए ये समझ लेना जरूरी मोक्ष की कोई विधि नहीं हो सकती क्योंकि जो विधि से पाया जाए वो विधि से बड़ा नहीं हो सकता मोक्ष का कोई मार्ग नहीं हो सकता क्योंकि जो मार्ग से पहुंचा जाए वो अंत नहीं हो सकता उसके आगे भी मार्ग हो सकता मोक्ष की कोई तरकीब नहीं हो सकती क्योंकि जो तरकीब से मिल जाए उसकी क्या कीमत है वो तुमसे छोटा होगा तुम्हारी तरकीब से मिल गया बुद्ध उसको खोज रहे थे जो खोजने से मिलता ही नहीं है वो तभी मिलता है जब खोज खो जाती संसार व्यर्थ हो गया आधी खोज पूरी हो गई लेकिन बुद्ध के मन में एक नई खोज पैदा हो गई मोक्ष को खोजने की यह भी उपद्रव है इससे छह साल लगे संसार नहीं खोजना साफ हो गया लेकिन मोक्ष खोजना खोज जारी है जो पहले संसार खोज रहा था अब मोक्ष खोज रहा है लेकिन खोज जारी है दौड़ने वाला जिंदा है महत्वाकांक्षी भीतर मौजूद है छह साल थक गए एक खोज पहले खत्म हो गई थी संसार की दूसरी खोज भी खत्म हो गई मोक्ष की खोज ही खत्म हो गई जिस सांझ बुद्ध को मुक्ति का अनुभव हुआ उस दिन वो कुछ भी नहीं खोज रहे थे उस दिन वृक्ष के नीचे वो शांत बैठे थे जब तक खोज है तुम शांत गए कैसे क्योंकि खोज अशांत करती अभी तक नहीं मिला कब मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगा खोज विचार पैदा करती अशांति पैदा करती उस दिन बुद्ध को जैसा छह साल पहले महल छोड़ा था उन्होंने ऐसा ही मंदिर भी छोड़ दिया दुकान पहले छूट गई थी ये मंदिर भी उसी दुकान का हिस्सा था ये भी छूट गया एक पहलू पहले समाप्त हुआ दूसरा भी समाप्त हुआ पूरा सिक्का बुद्ध के हाथ से गिर गया उस रात वे सोए कोई खोज ना थी कहीं जाना ना था कुछ पाना ना था न कोई मोक्ष न कोई परमात्मा न कोई शांति न कोई आनंद कुछ भी नहीं पाना था बस उस वृक्ष के नीचे वे सिर्फ थे उसी दिन घटना घट गट गई भोजन तो हो चुका था उस रात बर्तन साफ हो गए बर्तन उसी दिन साफ होते हैं जब तुम्हारी सब खोज मिट जाती बर्तन उसी दिन साफ होते हैं जिस दिन तुम्हारी सब आकांक्षा गिर जाती हो जब मैं कहता हूं सब तो मेरा अर्थ है सब अगर तुम ध्यान की भी आकांक्षा कर रहे हो तो बर्तन साफ ना होंगे ध्यान भी भोजन है वो भी बर्तन को गंदा करेगा संसार में दो तरह के महत्वाकांक्षी हैं एक संसारी और एक धार्मिक दोनों महत्वाकांक्षी हैं दोनों पदातुर हैं दोनों कुछ पाना चाहते हैं एक तीसरे तरह का व्यक्ति कभी कभी घटता है वह अनूठी घटना है जो कुछ भी नहीं पाना चाहता और जब तुम कुछ भी नहीं पाना चाहते तब तुम सब कुछ हो जाते हो उसी क्षण बर्तन साफ हो गए निर्मलता उपलब्ध हो गई वो दिया जलने लगा जो बिन भांति बिन तेज चलता है आज इतना है